रथ से बंधा हुआ होकर है के घोड़े के स्थानीभूत हो इंद्रियों के द्वारा ही यह शरीर चारों तरफ ले जाया जा रहा है आकृष्यमाण खेच के ले जाने के कारण से इस शरीर को रथ कहा जा रहा है क्योंकि इंद्रिया ये काम ना करे तो आदमी कहीं आवे जावे ही नहीं यदि आपका बुद्धि फैल हो जाए मन फैल हो जाए कहा जाओगे क्योंकि आपको यही नहीं मालूम हमको कहा जाना है कहा नहीं क्या करना ज्ञानी तो बुद्धि तो फेल हो गया ना मर गया आदमी तो मर ही जाएगा उसका ब्रेन फेल हो जाए ब्रेन हेमरेज बोलते हैं खत्म ही हो जाएगा ये इंद्रियों के कारण से ही सब चलता है मन बुद्धि अहंकार और इंद्रिया अपने अपने किंचित क्रियाकलाप करना छोड़ दें किंचित भी क्रियाकलाप करना छोड़ दें फिर शरीर टिक नहीं सकता आगे ना बाकी सारी शरीर क्रियाकलाप होते रहता है केवल आप अन्न खाना पीना छोड़ दो कितना दिन चलेगा बीस इक्कीस दिन ज्यादा ज्यादा बहुत बड़ा योगी है चालीस पैंतालीस दिन ख्यान चलेगा उसके बाद वो भी खत्म शरीर तो खत्म होना बल्कि वो सोच रहा है समझ रहा है देख रहा है बोल रहा है चाल रहा व्यवहार सब कर रहा है केवल उसने एक इंद्री पर पूरा ही पाबंदी लगा दी कौन सा प्रश्न इंद्री हाँ, कि हम इसके जो है गोबर जो देते हैं दिन भर रात भर इसको गोबर पानी देना बंद करो तो शरीर खत्म हो जाता है और सारी इंद्रिया यदि खत्म बंद कर दिया जाए तब क्या होगा तो टिक नहीं सकेगा इसलिए कहा योग चित्तवृत्ति निरोधा कहते हैं कि रोक दो ये अर्थ नहीं करना रोक दोगे कैसे रोकोगे तो मरोगे जिंदगी नहीं रहोगे साधना क्या करोगे पान निरोधा का मतलब स्वाभाविक प्रवाह का परिवर्तन कर देना इसलिए भाष्यकार जब वृत्ति की व्याख्या करते हैं उभय प्रवणा वृत्ति कहते ये वृत्ति ऐसी विचित्र है इसके दोनों तरफ बाहर है ऐसी गंगा जी तो कभी देखी नहीं जो भारत में भी चले और चाइना में भी चल पड़े दोनों तरफ लेकिन वृत्ति रूपी नदी खतरनाक कभी इधर कभी उधर और दो मुआ सांप नहीं होता है डूडा दो मुंह का सांप इधर आवाज करो तो उधर भाग उधर आवाज करो तो इधर भाग जाएगा वैसे तो वृत्ति है डूडा सांप की दिशा लेकिन इसकी आदत ज्यादा क्या है संसार की ओर चलने की आदत अंदर की ओर चलने की आदत नहीं अंदर की ओर चलने के लिए बहुत प्रत्यार की अभ्यास कर अजपा जब योग निद्रा अंतर्मोन चिदाकार धारणा आदि विभिन्न क्रियाओं का अभ्यास करोगे तब अंदर जाना सीखेगा ही नहीं तो इसकी हमेशा प्रवाह बाहर की ओर ही है तो ये भी दोनों प्रवाह करने की सक्षम लेकिन वो आ गई जैसे गाड़ी जब चलाते हो कार हो कोई भी चीजें देखो आगे तो ज्यादा चलाते हो कभी कभी लेकिन पीछे भी चला जाता है जरूरत पड़ता है जैसे बैक गियर पे चलाना पड़ता है लेकिन सारी रूट आप बैक गियर से ही चलाओगे क्या ऐसा नहीं होता लेकिन माहिर वो है जो यहाँ से बद्रनाथ बैक गियर पर ही चल पड़े महान है ना मानना पड़ेगा उसको भाई कमाल कट रहे किसी प्रकार से वो जीवा तो कमाल है जो सारी वृत्तियों को सदा ही भीतर की ओर चला दे और संसार की ओर चल नहीं ना दे तो महारथी कहा जाएगा ना उसको महान वैसे तो निरोध करने का मतलब क्या बाहर जो चल रहा है उसकी स्वाभाविक प्रवाह है उसको भीतर की ओर चलाना है तीसरे का अभ्यास वैराग्य अभ्यास बहुत सुंदर दृष्टान दिया वहां पर उन्होंने जैसे कि जो है स्वाभाविक प्रवाह क्या है गंगा जी की स्वाभाविक प्रवाह है आप बैराज कभी गए देखे और क्या कर दिया वहां पर आपने स्वाभाविक प्रवाह को रोक दिया लेकिन रोक देते केवल तो क्या होता ओवरफ्लो हो जाता भाई तोड़ता नहीं मान लो हो तो भर के ओवरफ्लो हो जाए और क्या करोगे तो यहां से हका सकते तो बैरज तो नहीं बांध सकते आप ओवरफ्लो तो हो ही जाएगा वो नहीं और खतरा भी एकदम फोड़ भी सकता जब दबाव पड़ेगा यहाँ से ऊंचा ज्यादा होते जाएगा तो तोड़ देगा उसको खतरा भी हो सकता है इसलिए आप क्या करते हैं नहर खोद देते चाहे उसको नहर को खेतियों में ले जाओगे चाहे बिजली बनाओगे चाहे जो भी काम है इधर से यहाँ पर कहा वैरागी कर दो वैरागी क्या है ही बैराज बांध है तो वैराग्य कर दोगे विषय की ओर जाएगा नहीं इंद्र अब कोई विषय तुमको चाहिए ही नहीं तो जाएगा क्यों वैराग्य का मतलब क्या यह मूत्र भोग वितृष्णा कारक्रवशाल शरीर की जो है स्थिति को कायम रखने के लिए आवश्यक जितना है अत्यल्प प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए आप वैराग्य कर लेते हैं तो बांध तो बंद गया इनके लिए वैराग्य से काम नहीं चलेगा तो उज्जड़ हो जाएगा इसे कर दिया अभ्यास कोई नारे निरंतर वो भी अभ्यास कैसी निरंतर दीर्घ काल निरंतर सत्कार सभी तो दृढ़ मेरा अभ्यास तो इसी तरह से यहाँ पर भी बात कहा जा रहा है कि भाई ये दोनों के द्वारा जैसे वहां पर प्रवाह का परिवर्तन किया गया परावर्तन बल्कि परिवर्तन नहीं परावर्तन कर दिया गया है यावत स्वाभाविक अनुवर्तन था प्रवाह का उसको परावर्तन कर देने का नाम ही निरोध होता है उसी तो तरह यहाँ पर भी कहते हैं कि भाई ये जो इंद्रिया गया कर रही है इस शरीर को स्वाभाविक अनुवर्तन संसार में ले जा रही है इसलिए इंद्रिया रूपी घोड़ों से युक्त होकर के यह शरीर को रथ कहना पड़ेगा क्योंकि वह इसी के द्वारा सर्वत्र घूमता फिरता है बाहर बुद्धि तो अध्यवसाय लक्षण सारथिम विद्धि अध्यवसाय लक्षण सारथिम निश्चय करने वाली जो वृत्ति विशेष रूपा ये जो बुद्धि है उसको सारथी जानो बुद्धि नेत्र प्रदान क्योंकि शरीर की जो सकल प्रवृत्तियों का पीछे बुद्धि का नेतृत्व तो ही प्रधान है जब आपको निश्चय नहीं होता है तो क्या होता है आप प्रवृत्ति नहीं होते जाऊं न जाऊं जाऊं न जाऊं ऐसे सोचेगा तो क्या करेगा जाएगा वो न जाएगा न रुकेगा वो लटर पटर होते रहेगा क्या करो क्या करो क्या करो सोचते रहेगा और निश्चय हो गया नहीं जाना है बस चले जाता है निश्चय हुआ नहीं जाना है तो बैठ जाए निश्चय के बिना जाए शरीर के प्रवृत्ति या निवृत्ति का स्थिति नहीं बन सकता है इसलिए शरीर को नयन करने वाला या तो करने वाली बोलनी पड़ेगी करने वाली बुद्धि है सारथी नेत्र प्रदान ही बोला था जैसे सारथी जो है नेतृत्व प्रधान होकर के रथ को जो संचालन करता उसी प्रकार सर्वी देहगत अंगार्य बुद्धि करते मेरा प्रायणा क्योंकि देहगत जो कुछ भी कार्य है उसे बुद्धि के द्वारा ही कर्तव्य रूपेण ग्रहण कर निश्चय करने के बाद होता है और मन संकल्प विकल्प आदि लक्षण प्रग्रम रचना विधि और मन क्या है संकल्प विकल्प आदि रूपा प्रग्रह मैंने रसना रस्सी के लगाम के समान है समझो लगाम भी क्या होता है ऊपर जो उछलता है हिंक करते खेचते हिंक करते उछलता है वही संकल्प विकल्प सारती ही थोड़ा होते रहेगा तो जो लगाम को करता है वो खुद भी जो होएगा तो तो शैतान है अकुशल है जो कुशल होता होता तो अपने आप स्थिर रहता है और लगाम को क्यों न चाहते हो इधर उधर करते रहता है इधर बुद्धि का है इसलिए मन को ये उछल कूद कर संकल्प कल्प करने वाला है इसलिए उसको लगाम की सादृश्यता दे दिया मनसा ही प्रगृहिता श्रोत्रादि निकरणादि प्रवर्तनते रसनया इव अश्वाहा जैसे मन के द्वारा प्रगृहित हुए जो है श्रोत्रादिया ही क्या है कर्ण अपने अपने विषय की प्रवृत्त होते हैं जैसे रसी से जो है वह लगाम के द्वारा खींच करके बंधा हुआ वो जो घोड़े हैं वो अपने मार्ग में चला करते हैं और उसमें लचीलापन की जरूरत क्या बुद्धि के समय स्थिरता क्यों नहीं बुद्धि को स्थिर होना जरूरी है इन मन भी स्थिर हो जाए तो वैसे वैसे खड़ा रहेगा स्थिर हो जाएगा चलेगा चरण और दूसरा और कभी ये इंद्रिय कभी वो इंद्रिय कभी इस इंद्रिय में कभी उस इंद्रिय में जुड़ते रहता है ना खबर लेने के लिए करने कराने के लिए इसलिए उसको लचीलापन लेना जरूरी कभी इसे घोड़े का लगाम खींचते उस घोड़े के लगाम खींचते ही नहीं सारे लगाम हाथ में है पांच पांच घोड़े चल रहे अब किसको खींचा किसको खींचा मैंने वहां मन उसके इसके साथ संबंध होती ही रहता है इसलिए भी उसका सादृश्यता अधिक मन के साथ बन रहा है इंद्रिया चक्षुरारिणी हया राहो हृदय कल्पना कुशला इंद्रियों को ही मैंने चक्षुरादियों को घोड़े करके रथ की कल्पना करने में कुशल जो लोग विवेकी कहा करते हैं शरीर का आकर्षण सामान्य यहाँ पर वही है शरीर रूपी रथ का आकर्षण करने की सदृशता होने के कारण तेज इंद्रियश हयत्न कल्पितेश परिकल्पितेश गोचरा तेज इंद्रियश उन इंद्रियों को जब आपने हयत्न परिकल्पना कर ही लिया है तो उनके मार्गों को भी बताना ही होगा वे मार्ग कौन है रूपाधीन विषयान विधि उन मार्गो को रूपाधि विषयों को ही समझो आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम शरीर इंद्रिय मनो भी सहितम शरीर इंद्रिय और मन और बुद्धि भी ले लेना इन सब के सहित जो है संयुक्तम आत्मान भोक्ता इति संसारी इति आहो भोक्ता में उसी को संसारी करके कहते कौन मनीषिना विवेकिन हो नहीं केवल आत्मा भोक्तृत्व अस्ती केवल आत्मा के अंदर भोक्तृत्व हो नहीं सकता बुद्धियादि उपाधि कृतम मेरा तस्य भोक्तृत्व क्योंकि बुद्धियादिकृत उपाधिकृत ही है उस आत्मा के अंदर भोक्तृत्व केवल आत्मा के अंदर भोक्तृत्व नहीं आ सकता उपाधि तो होकर के निरुपाधिक स्वरूप में किसी प्रकार का धर्मारोप नहीं हो सकता हाँ तथा श्रुत्यंतरम केवल से भौतृत्व में दर्शेती इसलिए केवल के दृष्टिकोण से श्रुत्यंतर में प्रदारण्य में भोक्तृत्व के अभाव को दिखाया ध्यायती व लेलायती व इत्यादि कहा गया भाई और जो है ध्यान करने के समान है ध्यान होता होता कुछ नहीं है न कोई करता है न करता है न होता है न कराया जा सकता है जैसे वैसे मन का खेल है चल रहा है जैसे कोई राम तो होता नहीं है अब बन जाते ना बच्चे तुम राम हो मैं लक्ष्मण हूँ दोनों एक्टिंग कर देते हैं न वो राम है नहीं वो लक्ष्मण इसी प्रकार यहाँ भी चलते है आप सब बैठो ध्यान करो मैं कराता हूँ न आपका ध्यान होना है न हम करा सकते हैं ये सब उपाधि दृष्टिकोण से हाँ उपाधि ध्यान कर सकता है और एक दूसरा उपाय उसको करा सकता है उपाधि उपाधि भिड़ंत कर रहे हैं यहाँ ध्यान ध्येय और ध्यातृत्व जो त्रिपुटी है वह बिना उपाधि का हो नहीं सकता है इसलिए इनका कहना है कि देखो कि भाई ध्यायती व लीलायती व इत्यादि श्रुतिंतर प्रमाण है कि केवल आत्मा के अनुभोक्तृत्व तो हो नहीं सकता एवं जसदी वक्षमाण कल्पनाया वक्षमाण कह दिया अरे यहाँ का कल्पना हो रहा है वक्षमाण क्यों कह रहे हो कहते आगे नवम मंत्र में फिर दोबारा कुछ विलक्षण रूप से कथन करें नवम मंत्र के दृष्टिकोण से यहाँ वक्षमान करते क्योंकि नवा मंत्र आप देखिए वहां की कल्पना है लेकिन उसमें और उसमें किंचित फर्क करके समझाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो उसका विलक्षण तो वही बताऊंगा इसलिए भाषाकार ने वक्षमाण कह दिया है वक्षमाण रथ कल्पना के द्वारा वैष्णव से पद से आत्मत्य प्रतिपत्ति रूप देते जो वैष्णव व्यापक शुद्ध ब्रह्म पद है उसकी प्राप्ति को जो है उस श्रुति की अनुपत्ति की आशंका नहीं कर सकते आप क्योंकि वहाँ पर आत्म रूप ने उसकी प्रतिपत्ति को संपादन किया है नान्यता स्वभाव अतिक्रमा और ये आत्मा ही संसारी हो जाए वो अपने स्वभाव को कैसे अतिक्रमण करेगा वो कैसे ब्रह्म पद को प्राप्त कर जाएगा संसारी कैसे असंसारी हो जाएगा यदि संसारित्व आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप भूता धर्म है परिवर्तन उसमें आ ही नहीं सकता जैसे जल के स्वरूप धर्म आपने ठंडा मान लिया और अग्नि के स्वरूप धर्म गर्म मान लिया है तो ठीक है तो वही है ना हमेशा कभी अग्नि ठंडी नहीं होती न जल गर्म होता यदि विपरीत दिखता भी है तो सोपाधि आपने अग्नि में जल को गर्म कर दिया तो उपाधि से हुआ ना और अखेरा तो क्या होता है कुछ देर के बाद वो ठंडा हो जाता है जल इधर अग्नि को लो कोई मंत्र तंत्र औषधि आदि के द्वारा आपने कुछ कर भी दोगे ना तो क्या होगा इसलिए कहते हैं कि देखो कि स्वभाव का अतिक्रमण हो नहीं सकता यदि आपने उसको स्वभाव मान लिया तो फिर उसका अतिक्रमण नहीं हो सकता इसलिए केवल आत्मा के अंदर संसार तो स्वभाव रूपेण आप स्वीकार नहीं कर सकते तो उपाधि का ही है इसलिए यह आत्मा को भोक्ता है जब कहते हैं तो वो समझना स्वपाधिक आत्मा को ही कहा जा रहा है नहीं तो आगे जो रथ कल्पना की फलस्वरूप ने जो कथन किया जाएगा नव मंत्र में वैष्णव पद की प्राप्ति आत्मा के द्वारा शुद्ध ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति आत्मा के द्वारा जो कथन किया वह असंभव हो जाएगा प्रतिपत्ति उपदते नान्य था अन्यथा नोपदित ऐसे जोड़ लेना आप स्वभाव मान लोगे तो उत्पन्न नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि स्वभाव ये हेतु देखना ये स्वभाव का कोई अतिक्रमण न कर सकता कोई लौकिक अर्थ है ही नहीं उसका एक ही अर्थ है इष्ट मने व्यापक क्या अर्थों तो का पीछे जो है आपको प्रमाण तो देना पड़ेगा व्याकरण कोश या श्रुति स्मृति में शब्द की जो उत्पत्ति रूढ़ार्थ रूप में भी आपको दिखानी पड़ेगी व्युत्पत्ति नहीं है आपके पास तो श्रुति में इसी अर्थ में रूढ़ प्रयोग हुआ अनुसार निश्चय करो षडलिंग के द्वारा और शब्दार्थ निर्णय तो होना ही होगा उसे अतिरिक्त न कोई वैदिकार्थ है न लौकिकार्थ इन दोनों अर्थों को त्याग कर कोई अर्थ करता है वो मूढ़ार्थ है न वैदिक है वो न लौकिक वो मूढ़ार्थ है वो कट्टरपंथी उसको हिंदी भाषा में क्या होते है कट्टरपंथी लोग उनको शब्द का ज्ञान ही नहीं ऐसे रहते ही जा हम वैष्णव हम वैष्णव तो पता भी है वैष्णव किसे कहते हैं कुछ नहीं पता उसको हम शैव शैव किस बात यू लगा दिया शैव हो गया यू लगा दिया तो वैष्णव हो गया क्या ये कैसी बात है मेरे पे भी लगा दूंगा दोनों लगा दू इधर से भी इधर से भी लगा दो वैष्णव शैव दोनों हो जाएगा फिर ये तो कोई बात नहीं बोलती तो इसीलिए ये सब बातें जो है ना मूढ़ार्थों को हमको ध्यान ही नहीं देना चाहिए जो विवेकी है उनको मूढ़ार्थों के कृत अर्थ को ध्यान ही नहीं देना चाहिए समझ लो तो ऐसी है छोड़ो उसे घड़ने से कहा तो मानेगा ही नहीं अकल तो ही नहीं वो ऐसे ना कहावत ना अनपढ़ जात पढ़ा लिखा जैसा और पढ़ा लिखा जात खुदा जैसा अब उसे क्या भिड़ोगे आप जो अनपढ़ है वो खुद पढ़ाने का जैसे व्यवहार करने लग जाए आपको हरा देगा वो आप समझा ही नहीं सकते उसको तो हार माननी पड़ेगी और जो थोड़ा पढ़ा लिखा है वो अपने आपको खुदा मानता है अब खुदा को क्या समझाओगे तुम तो उससे भिन्ना बेकार इसलिए ऐसे मूढ़ों से टकराना ही नहीं चाहिए अरे हाँ ठीक है भाई तुम वैष्णव बात खत्म जाओ जो विष्णु शब्द तो होता है व्यापक और वैष्णव पद हो गया वह व्यापक पद जो ब्रह्म पद है ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति और उसकी जो है प्रतीकात्मक जो हमने ले लिया विष्णु भगवान शंख चक्रधारी और इसी प्रकार शिवम कल्याणम कल्याण सर्वम किम तक ब्रह्म उसका प्रतीक कर दिया वही वो डमरुधारी है या नहीं और उन प्रतीकों का भी अर्थ अलग अलग जो सगुण में आते हैं उन गुणों की व्याख्या तो करनी पड़ेगी निर्गुण दृष्टिया शिवा या शैवम विष्णु या वैष्णव इन शब्दों के कोई अर्थ में भेद ही नहीं है अर्थ में कोई भेद नहीं चाहे शैव कहो वैष्णव कहो शिव कहो विष्णु कहो चाहे सूर्य कहो सौर कहो गणपति कहो गणपत कहो शक्ति और शक्त कहो इन दोनों में पांचों में कोई अंतर नहीं शब्द आदि शब्द भेद जरूर है शब्दादि अर्थ में कोई भेद नहीं इसलिए आचार्य शंकर ने पंचदेव उपासना कहा जिसकी जैसी निष्ठा बंद है उसी रूप को पकड़ो फल एक है अर्थ एक है शब्द मात्र भेद फल में कोई अंतर नहीं होता कि क्यों क्योंकि उन शब्दों की बोधिभूता जो वस्तु है और उस वस्तु का जो स्वरूप है वो एक है जिसको आप प्राप्त करना चाहते जब वस्तु एक है वस्तु का स्वरूप एक है तो फल में कहा से मेल आएगा फल भी एक होगा ये तो फालतू तो मूढ़ों की जो लड़ाई है गो लोग अलग है साकेत लोग अलग है कैलाश लोग अलग है वैकुंठ लोग अलग है अरे दुनिया और लोगों के नाम लेकर के लड़ाई झगड़ा करने लग गए शब्दों का ही फेर में पड़ गई शब्द के लक्ष्यार्थ ध्यान ही नहीं दे रहे वाचार्थ में भी ध्यान नहीं दे रहे बल्कि उसके रूढ़ार्थ को लेकर के अपने अपने कट्टरपंथी वाले जिसको रूढ़ार्थ क्या कहो मूढ़ार्थ कहो वो मूढ़ार्थ को लेकर के लड़ाई चल रहा है ये वास्तविकता है इसलिए भाष्यकार का कहना है कि इन चीजों को ध्यान नहीं देनी चाहिए नहीं तो स्वभाववाद में चले जाओगे संसारित यदि आत्मा का स्वभाव मान के चलोगे फिर आगे जो कहा जा रहा है ये आत्मा प्रेरत रूपी जो है साधन के माध्यम से इस रूपों का विवेचन करता हुआ अपने स्वरूप को प्राप्त करता है वो बात अनुपन्न हो जाएगा क्योंकि स्वभाव का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता अतएव आत्मा में संसारित नाम का जीव नहीं है गर्म पानी में हाथ गर्म अंतर है ना सावय वस्तु में सावय वस्तु का समागम स्वतः ही निवृत्त हो सकता है एक निरवय में जो सावय तो का जो आरोप है वो आरोप तो आपकी बुद्धि से निवृत्त होएगा आपने आप निवृत्त नहीं होगा जैसे कोई भ्रांति आपने समझ लिया ये भूत है आपके दिमाग से जब तक तो ये भूत नहीं है निश्चय नहीं होगा तब तक अपने आप नहीं दूर होगा होगा क्या किसी चीज को लेकर डर बैठा हुआ है पुलिस को पुलिस बच्चा डरते रहता है काम था पिशाब करता है भाग जाता है लेकिन जब बड़ा हो जाता है बता रहे पुलिस मेरे जैसी आदमी है इन कई वर्षों तक वो डरता था अपने आप निवृत्त हुआ क्या नहीं हो गई बुद्धि का खेल है ना बुद्धि ने उल्टा सोच रखा है अब उल्टी जब सीधा सोच में नहीं लाता है उसको तब तो अपने आप निकल नहीं सकता इसी यहाँ पर भी बुद्धि ने ही निरावय में उपाधियों का आरोप कर दिया है अब वो आरोप जो चीज है वह स्वतः निवृत्त नहीं हो सकता जब तक आप पुनः अध्यारोप का अपवाद जब तक नहीं करेंगे यह करना ही होगा और वहां पर जल में उष्णत्व का अध्यारोप नहीं है यदि अध्यारोप हो जाए तो वो भी निवृत्त नहीं होएगा यदि किसी के दिमाग में आ जाए अरे गंगा जल तो उबलता हुआ है बहुत गर्म होता है कभी नहीं नहा सकते वो जिंदगी भर कभी भी आएगा गंगा जी के पास तो बाप उड़ता हुआ देकर भाग जाएगा गर्म पानी गर्म पानी नहीं हो तो ठंडी से आ रहा है ना लेकिन उसके दिमाग में भी भ्रांति घुस जाए कभी नहीं पास में आए जब तक तो उसके दिमाग से भ्रांति नहीं हटेगी तब तक नहीं लेकिन वह हथियारों नहीं था वास्तविक सावय का प्रवेश था एक सावय वस्तु में दूसरी सावय वस्तु जब आते वो सावय अपना परिवृत्त हो जाएगा क्योंकि सावय वस्तु का स्वभाव है वो अपने आप अपने स्वरूप को में क्षति परिणाम अपक्षय ये परिणाम होता ही है उससे तो आप रोक नहीं सकते जो आपने जायते अस्थि वर्गते पढ़ा है ये षड विकारों से सावर वस्तु को आप बचा नहीं सकते दृष्टान सावय दिया जा रहा है इसीलिए कि अस्थायित्व मात्र को बताने के लिए स्वतः निवृत्ति लेनी कि स्वतः निवृत्ति सहाय वस्तु में ही हो सकता है मेरे वस्तु में आरोप में वो भी सहाय वस्तु में भी क्या आरोप में नहीं हो सकता ये रस्सी को आप शाम समझ लेंगे तो शाम भी समझते रहेंगे जिंदगी भर यद्यपि सांप भी क्या है सवय रस्सी भी सवय ही है लेकिन नायम सर्वा जब तक बुद्धि में आरूढ़ नहीं होता अपवाद होता ज्ञान जब तक आरूढ़ नहीं होता तब तक आपकी वह भ्रांति निवृत्त हो सकती निरवय में सावयव का आरोप हो चाहे सावय में सावयव का भी आरोप हो जाए तो भी आरोप तो आरोप है उसका अपवाद की बिना निवृत्ति स्वतः नहीं हो सकता इसे इनका कहना है देखो और सारथी पर विचार करते हैं अज्ञानी और ज्ञानी की स्वाधीनता और पराधीनता का विचार किया जाता है चित्तेन मनसा सदा तस्ेन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथे अज्ञानी की विवशता का वर्णन कर रहे हैं और ज्ञानी किस प्रकार से स्वाधीन होता है उसको अगले मंत्र में बताएंगे तो किंतु रथ रूपक का कथन करने के बाद कहते किंतु यह अविज्ञानवान भवती जो पुरुष अविज्ञानवान सारथी वाला होता है अविज्ञानवान जो सारथी से लेने बुद्धि रूपी सारथी रथ संचालन करने में समय विज्ञान वाला नहीं है सर्वदा ही अकुशल है इसका मतलब शरीर को रथ कहा गया था ना तो शरीर रूपी रथ को किस कर्म में प्रवृत्त करना चाहिए और किस कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए निवृत्त होना चाहिए इस बात को नहीं जानने वाला उसको कहेंगे हम अविज्ञानवान उसको विज्ञान नहीं है प्रवृत्ति निवृत्ति संबंधी विवेक ज्ञान नहीं है वह अविज्ञानवान तार सारदी वाला होकर अयुक्त मनसा और मन भी कैसा है तो स्वाभाविक है जिसका बुद्धि का ही ठिकाना नहीं है मन का क्या ठिकाना होगा और मन भी चंचल ही होगा असंयत चित्त से युक्त होकर मनसा चित्त है लेकिन अयुक्त चित्त है वो ऐसे अयुक्त चित्त से युक्त होकर असंयत चित्त से युक्त होकर तस् इंद्रिया अवश्य निश्चित रूप से उसकी इंद्रिया रूपी घोड़े अवश्य ही होंगे वश वश में नहीं होंगे अपने अधीन नहीं होंगे स्वाधीन नहीं होंगे इंद्रिया विषय और कामनाओं के पराधीन होकर इंद्रिया प्रवृत्त होती रहेंगी और दृष्टान दिया दृष्टाश्वा इव सारथ है जैसे अन्य सारथी के अधीन दुष्ट घोड़े होते हैं काबू में नहीं रहते जैसे जो अकुशल जो सारथी होता है जो अकुशल सारथी है उसके हाथ और उसके काबू में घोड़े नहीं होते जो कुशल सारथी है वो अपने हाथ में घोड़े को संभाले हुए रहता है तो युवा इसलिए कहता सारथे दुष्टाश्वा इसलिए इसके भी इंद्रियां बार बार इधर उधर भागती रहेंगी और सांसारिक पदार्थों में ही निमग्न रहेगा जिसके कारण से उसको अनेक प्रकार के दुख और बंधन का अनुभव होते रहेगा तत्र सदी भाषिका यस्तु बुद्धिया क्या सारे कौन है बुद्धि रूपा सारथी की बात हो रही है कैसा है वो अविज्ञानवान अनिपुणो अविवेकी तो निपुण नहीं है कुशल नहीं है क्यों कुशल नहीं है तो कुशल का मतलब क्या विवेकवान और अकुशल का मतलब विवेकहीन किस विषय में विवेक नहीं है प्रवृत्त हो च निवृत्त हो चवधि प्रवृत्ति और निवृत्ति के मामले में विवेकहीन है वो जानता नहीं किस विषय में हमें कैसा प्रवृत्त होना चाहिए वो तो रहा है प्रवृत्तियां तो हो रही है उसको कोई रोक ही नहीं सकता है ये निरंतर चलते रहेगा लेकिन उस प्रवृत्ति को किस विषय में किस प्रकार से होना है वो उसको पता है और निवृत्ति में भी किस विषय में किस प्रकार से कैसे निवृत्त होना चाहिए उसे पता है पशुवत चल रहा है चल रहा है कोई तो हांकने वाला दूसरे से कंट्रोल होता है भेड़ बकरिया क्या होती है चलते रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता है कहाँ में जाना है कैसे जाना है क्या करना है कब रुकना है कुछ ही नहीं होने तो दूसरा होता है वो उसको कंट्रोल कर यदि वो भी वैसे ही पशु जैसा हो जाए तब क्या होगा तो सब बिखर जाएंगे इसी तरह से यहाँ भी होगा ये कह रहे हैं कि प्रवृत्ति निवृत्ति को समझ के ही चलना होगा और जो नहीं चलता है तथा इतरो तथचर्यायाम अयुक्त प्रगृहित असमाहितेन मनसा यथा इतर जिस प्रकार से इधर आम सर्वत्र देखा जाता है आम आदमी उसी प्रकार से रथचर्याम जिस प्रकार से रथ को चलाने में अकुशल सारथी का हो स्थिति होता है उसी प्रकार रथचर्या या अधिक जो अक्षर है उनको काट देना अयुक्त अप्रगृहित असमाहित अयुक्त का मतलब अप्रग्रहित है अप्रगृहित मैंने पकड़ा हुआ नहीं है हाथ तो पकड़ में नहीं है छूट गया है अर्थात असमाहित असमाहित प्रग्रह स्थानीय की जो है संयोजन कौन करता है इंद्रियों का बुद्धि के साथ मन ही करता है इसलिए स्थानीय मन लगाम है मन रूपी लगाम भी बिगड़ा हुआ है बुद्धि में विवेक नहीं और मन भी जो है बिगड़ा हुआ जब है तो क्या होगा सदा सदा ही ऐसा ही है वो मन कभी भी वो समाहित नहीं हो पाएगा क्योंकि समाहित होने का पीछे बुद्धि ही मुख्य है मन यदि समाहित होना है तो बुद्धि में विवेक जगना जरूरी है यदि बुद्धि में विवेक वैराग्य नहीं है तो मन समाहित होगा या बुद्धि में लक्ष्य दृढ़ होना चाहिए विवेक वैराग्य ना भी हो भला जाने दो जैसे आधुनिक भौतिकवादी के लिए भी क्या है जब तक बुद्धि में एक दृढ़ निश्चय नहीं है अपने लक्ष्य के प्रति मुझे ये पाना है मुझे डिग्री पास होना है या अमुक को, कोई भी क्लास का है वो कहते हैं अमुक रैंक में पास होना चाहता हूँ तो वो उसे एक लक्ष्य बन गया ना बुद्धि ने निश्चय कर लिया और उसी के अनुसार मन भी लग जाता है इसलिए प्रवृत्ति निवृत्त से सामान्य चाहे लौकिक हो चाहे शास्त्रीय हो सर्वत्र नियम लागू होता है अकुशल बुद्धि वाले का मन भी निश्चित रूप से असमाहित होगा अतएव वह कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता इसलिए सदा विशेषण दे दिया तस्य अकुशल ऐसा जो अकुशल बुद्धि है बुद्धि सारथी है बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा इंद्रियानी अस्वस्थानी यानी अवश्यानी अशक्यानी अनिवारणीयानी निश्चित रूप से उसकी इंद्रिय के अस्वस्थानी भूता जो इंद्रिया है उस बुद्धि रूपी सारथी के हाथों के माध्यम से वह कभी भी वश्य नहीं हो सकते अर्दाम का निवारण करना असंभव है उनको विषयों की ओर दौड़ते हुए या अलक्ष्य की ओर जाते हुए कोई रोक नहीं सकेगा जाते ही रहेगा वो यद्यपि दुर्योधन भले ही कहता है जाना धर्मम नचमी प्रवृत्ति जाना धर्मम नचमी निवृत्ति तो कहने वाली बात है असलियत तो ये है वो जानामी का तात्पर्य शब्दार्थ बोध मात्र विवेक है का यदि वास्तविक विवेक है तो पुरुषार्थ जरूर होगा और पुरुषार्थ के द्वारा आप दमन कर सकते हैं इंद्रियों दमा क्षमा प्रतीक्षा इसलिए तो कहा गया विवेक नहीं है तो दमन कर ही नहीं सकता हो वो बहाना बनाएगा अरे मैं जानता हूँ क्या करो पता नहीं कोई भगवान ही हमको ऐसा करा रहे हैं कह को कराएंगे भगवान तुमसे कोई जबरदस्ती गलत काम भगवान को दूत बन गया है तुमसे शांति कराने माना कहा बहाने वाली बात है इसलिए विवेक और वैराग्य के अभाव के कारण से क्या होता है आदमी इस तरह की बातों को कहता है तो इसलिए यहाँ समझना है कि यदि आपको अपने अलक्ष्य की ओर जो जा रही हुई इंद्रियों को रोकना है तो सबसे पहले आपका कर्तव्य होता है विवेक करना जब विवेक करोगे अनुचित को समझोगे तो अपने आप वैराग्य होगा उन अलक्ष्यों के प्रति जब वैराग्य हो जाएगा लक्ष्य में मन संयत अपने आप इसलिए कहते हैं यहाँ कि अनिवारणीयानी क्या है दुष्टाश्वा अदांताश्वा इतर सारथी भवंती जैसे जो अकुशल सार्थ अन्यत्र लोक में देखा गया है उसका जैसे जो अदांत अशुभ करते हैं उसी प्रकार से अभी होगा अदांत मैंने कह रही दांत रहित घोड़े ऐसा अर्थ नहीं लेने का अदांत मैने अनट्रेंड है ना जिसको समय प्रशिक्षण नहीं दिया गया है प्रशिक्षण देना पड़ता है घोड़ों को भी उसके बिना वो आपके अनुसार नहीं चलेंगे जैसे जो है बछड़ा या बछड़ी ज्यादा उछले तो क्या करते बहुत ज्यादा उछलने कूदने लग जाते हैं उसके गले में डंडा बांध देगा ऐसा मोटा सा लकड़ी बांध देते हैं और जितना उछलेगा उतना घुटनों में चुट्टो लगेगा चोट तो अपने आप वो सही सही सीधे सीधे चलने लगेगा है? हाँ? तब सही सीधे चलना सीख लेगा वो तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है ये जो इंद्रिया रूपी जो है बछड़िया बड़ी तंग करती उल्टा पुलटा उछलती जाती है तो इनके गले में बांधना पड़ेगा ना कोई चीज वही विवेक और वैराग्य और कोई चीज नहीं है यहाँ पर यहाँ तो विवेक वैराग्य के सिवाय और कुछ नहीं ये कामनाएं वासनाएं जो चौरासी लाख योनियों का भ्रमण करता हुआ आया हुआ है तो अनेक प्रकार की वासनाएं भरी पड़ी कब किस प्रकार की वासना जागृत होकर आपकी कामनाओं को दूध करके अलक्ष्य की ओर ले जाएगा इसकी कोई भरोसा नहीं है तो इसलिए विवेक और वैराग्य रूपी दमन के द्वारा जब गृहित हो जाए इंद्रिया तब मन भी युक्त और बुद्धि के कुशल माना जाता है इसलिए अगला मंत्र में कुशल और ज्ञानी के बारे में कथन कर रहे हैं ये विज्ञानवान भवती युक्त न मनसा सदा तस्न्द्रिया वश्यानी सदस्मा सारथे यस्त पुनः पूर्वोक्त विपरीता जो पूर्वोक्त की अपेक्षा विपरीत है तू इसलिए कह दिया किंतु जो व्यक्ति कुशल है विज्ञानवान है मैंने कुशल किस विषय में कुशल है वही समझा प्रवृत्ति और निवृत्ति के बाद जो कुशल है किस विषय की ओर किस लक्ष्य की ओर हमारे सकल इंद्रियों को हमें प्रवृत्त कराना है और किन विषयों की से किन अलक्ष्यों से हमारे अपने इंद्रियों को निवृत्त करना है यह जो जानने वाला वह कुशल बुद्धि वाले को विज्ञानवान कहा जाता है विज्ञानवान भवती सदा युक्त न तो स्वाभाविक है जब दृढ़ निश्चय पूर्वक बुद्धि कहती है अमुक जगह को सोचना है समझना है सुनना है करना है तो मन भी अपने आप क्या करेगा उसके पास कोई और रास्ता है नहीं वो तो उसे वही जाएगा गलत की ओर जाएगा ही नहीं युक्त न मनसा समाहित न मनसा सदा समाहित मन वाला सदा होकर के वह लगाम ठीक ठीक रहा तो लगाम भी ठीक है सारते भी ठीक है तो तस् इंद्रिया वश्यानी तो इसकी इंद्रिया रूपी घोड़े उसके वश में रहेंगे वश में रहने का मतलब स्वेच्छा पूर्वक स्वाधीनता स्वाधीन रहेंगे तो आप अपनी मर्जी से इंद्रियों को लक्ष्य की ओर ही जाने दे सकते हैं अलक्ष्य और जाने से रोक सकते हैं सदाश्वाय सारथे है दृष्टान दिया जैसे कि जो है कुशल सारथी के आप लोक में भी देखते हैं इशारे की बात है तैयार हो जाते हैं ऐसे ऐसे घोड़े कुशल सारथी कुशल है तो घोड़े भी बिल्कुल उसकी जूते की आवाज से पहचान लेते हैं बड़ा आश्चर्य है दक्षिण में जो हमने देखा वो घोड़े पे जो पहनते अलग जूता होता है वो जूता जब पहन के आएगा उसके आवाज को पहचानते और वही आदमी लेकिन दूसरा जूता पहन लिया जो वॉकिंग वगैरह करने का बाहर का या अपने ऑफिस जाने का जूता पहनना उसको पहन के बाहर आता है तो घोड़ा खड़ा नहीं हुआ वो अपने बैठे मस्त है हिल रहा है आवाज यू किया गुड मॉर्निंग तो किया उसने तो <laughs> उसको मालिक को नमस्कार तो कहा लेकिन उठा नहीं हमने सवेरे जैसे वो उसको पहन के खट से खड़ा बड़ी तेजी से स्फूर्ति के साथ और एक बार झाड़ा और बिल्कुल तैनात है गजब है मुझे को तो पहले समझ में नहीं इसने कोई इशारा किया होगा तो मैंने उससे पूछा आपने कोई इशारा किया कहते नहीं हमारे जूतों के आवाज का फर्क भी समझता है और समझता है ये हम पर सवार होकर जाने के लिए आ रहे हैं और आपने कल देखा था तो उस समय वो जानता था कि तो हमारे ऊपर जाने के नहीं आ रहे तो कार में जाने जा रहे हैं वो जान रहा है कि इतनी घोड़े भी कुशल हो जाते हैं जो सारथी कुशल है इसी प्रकार से आपकी संकल्प विकल्प होने से पहले बुद्धि क्या चाहती है यह बात इंद्रियों को मालूम हो जाना चाहिए उसी हिसाब से इंद्रिया व्यवहार करनी चाहिए इतनी विवेक और इतना वैराग्य यदि संपन्न है तो अलक्ष्य दिशा में भी आ जाए आप इंद्रियों की हिम्मत नहीं हो सकती है कि उस तरफ चली जाए इंद्रिया उस तरफ नहीं जाए डरेंगे हमको अब दंडित कर देगा नहीं तो ये ये जो सारथी है बहुत स्ट्रिक्ट है वो दंडित कर देगा ये वाणी एक गलत शब्द निकाल दिया उसको खाना बंद दे देगा क्या करेगा वो वाणी इसलिए डरती है गलत नहीं बोल सकते असत्य बोल ही नहीं सकते असत्य विचार नहीं में नहीं प्रवेश कर सकती है क्योंकि वो जानती है कि भाई यदि हमने एक भी शब्द गलत बोल दिया ये मालिक खतरनाक है ये तो रोटी बंद कर देगी टाइम यदि वो जान लेता है कान भाई ये सारथी बहुत कड़क है यदि हमने गलत गाने सुन लिए गलत बात सुन लिए तो रू ठूस देगा कोई बात सुननी नहीं देगा तो वो डर के मारे फिर कभी गलत की ओर जाएगा लेकिन आपने अपने इंद्रियों को आज तक ऐसे ट्रेनिंग दिया ही गलत चीज को देख लिया हमको बंद करो कहो कि तुम देखोगे नहीं चार घंटे सजा दो देखना बंद कर देगा गलत कभी ऐसे किया आज तक सोचा भी नहीं करना तो दूर की बात तो कैसे इंद्रिया वश में आएंगे आपके सुन लिया हाँ कान में ठूल तो रोई सुनी नहीं दो तो उसको छह घंटा सजा दो तुमको कोई बात अब सुन नहीं दूंगा तुमने क्यों गलत सुना क्यों गलत सुना तुमने तुमको अब कोई बात अब छह घंटा हम सुनने नहीं देंगे तुम्हारे काम की बात हो चाहे बेकाम की बात हो अब भोजन की घंटी भी नहीं सुनाई देगी तो भोजन नहीं मिलेगा उसको तो अकल सही हो जाएगी उसकी तो पनिशमेंट देना पड़ता है बिना दंडित किए जैसे आप उसे गले में डंडा बांध दिया और दंडित किया कि नहीं बंद किया उसको तब ना वो नियंत्रण में आया बछड़ा यहाँ भी दंडित करना पड़ेगा बिना दंडित किए कुछ नहीं हो नहीं वो हम्म? तो चेतन कौन ये तो अचेतन हम्म। वो तो चेतन युक्त होकर के जा रहे हैं ना सर्वत्र चेतन व्यापक है ही है लेकिन जब तक आपके अंदर विवेक वैराग्य नहीं है और आप अपने अंदर विवेक वैराग्य सुनने से नहीं होता शास्त्रों का आपके अंदर विवेक वैराग्य तब दृढ़ हो सकता है जब आप धीरे धीरे इंद्रियों को दंडित करके संयम में लाते जाए जितना इंद्रियों का संयम भगवान इधर क्या है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर जब तक आप संयत इंद्रियों वाले नहीं होंगे आपके अंदर तत्परता नहीं आएगी और तत्परता नहीं आएगी तो श्रद्धा नहीं होगी श्रद्धा नहीं होगी तो ज्ञान नहीं हो सकता एक विरुद्ध रखा है इन्हें से पहले श्रद्धा पहले श्रद्धा नहीं है शुरुआत मिथ्याचार में हो तो हाँ, करना ही पड़ेगा सख्ती से दंड देना पड़ेगा वांग नियम वांग मौन अंतर मौन ये क्रम बताया इसलिए इसी प्रकार हर इंद्रिय में प्रत्येक इंद्रिय को पहले नियमित कर दो तुम्हें यही सुनना है नहीं सुनना है यदि तो सुन लिया तुमको दंड मिलेगा तो नियम के बाद उस इंद्रियों के मौन के अभ्यास बैठे हुए हैं चारों आवाज आते भी आपके कान कोई आवाज ग्रहण करता भी है तो भी आपके पास नहीं पहुंचेगा शब्द मैं कानों में शब्द पड़ गया इन इंद्रिया उन शब्दों को ग्रहण नहीं करेगी श्रोत इंद्र ग्रहण नहीं करेगी हम खुला है सामने टीवी चल रहा है आपको कोई चित्र नहीं दिखाई देना चाहिए कठिन तो काम है लेकिन ये चक्षु मौन है श्रोत्र मौन है है तो कठिन लेकिन योग शास्त्रकार कहते हैं इसके अभ्यास के बिना आप विज्ञानवान सारथी नहीं हो सकते अरे वो कठिन नहीं है वास्तव में विचार करके देखा जाए जैसे अन्यत्र मन वाले जो हो जाते हो सड़क पे चल रहे आपके सामने से मित्र भी आ रहा है आपको दिखाई नहीं देता है क्यों नहीं दिखाई दिया अन्यत्र मनो अभुवम ब्रदल ने कहता है, हाँ? मनोराज हाँ? मनोराज यही पाठ चल रहा है आपके दिमाग पता नहीं क्या क्या स्मरण आ गया मेरे एक शब्द सुन करके तो दिमाग उधर चली गई और यह पाठ बीत गया पता ही नहीं कहाँ से कहाँ इसी केवल ये कि आपने अपने उस इंद्रिय से मन को हटा करके मन को अपने अंदर स्थापित कर दो तो इंद्रिय तद इंद्रिय मौन हो जाएगा इसे एक एक इंद्रिय का अभ्यास करना पड़ता है उसके लिए पहले नियमन करो मौन सीधा नहीं होएगा नियमन करना पड़ता है उसके बाद मौन होता है जब इंद्रिय मौन को स्थापित कर लिया आपने तब अंतर मौन की संभावना बनती जब अंतर मौन होता है लक्ष्य का अंतर दर्शन हो जाएगा इसको चिदाकाश धारण करते चिदाकाश धारणा की संभावना बनती है तभी ध्यान